अब अपने 28 वर्ष के रंगमंचीय जीवन में कुछ महत्वपूर्ण लोगों के निर्देशन में काम करने का अवसर मिला वो है स्वर्गीय अमर घोष स्वर्गीय कानू बंदोपाध्याय स्वर्गीय वीरू मुखर्जी श्रीमती तृप्ति मित्रा श्री राजेंद्र नाथ तथा श्री शवानंद जाला उनके निर्देशन में काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने मिला और उसको मैंने आत्मसात भी किया और मैं समझता हूँ कि वही मेरा एसेट है अब रंगमंच पर जिन पुरुष और महिला कलाकारों के साथ काम करने का सहयोग मिला उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम को भी बताना मेरे लिए आवश्यक प्रतीत होता है उनमें से है श्री श्यामानंद जालन श्री बद्री तिवाड़ी श्री राजाराम याग्नि श्री कुलभूषण खरबंदा श्री अशोक सिंह श्री शरद सेठ श्री अशोक लाल श्रीमती सुशीला मिश्रा श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल श्रीमती बकुल घोष श्रीमती पल्लवी मेहता श्रीमती स्वर्णा चौधरी श्रीमती यामा श्रा श्रीमती बीना किचलू उषा गांगुल और सुषमा सैगड़ अनामिका के राजदर्शन नाटक के प्रदर्शनों में दो महत्वपूर्ण कलाकार जो अनामिका के इस नाटक में काम करने आए श्रीमती स्वर्णा चौधरी के प्रयास से अब वे हैं श्री सुमित्रा और मसूदुल हक उनकी कलाओं का प्रदर्शन देख के मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और पहला अवसर मिला था मुझे जो कि कलाकारों में मेरे साथ उस नाटक में रंगमंच पर आए और मेरे साथ काम किए रंगमंच क्षेत्र की कुछ नामी हस्तियां हैं जिन्होंने मुझे अपना प्यार दिया वो हैं श्री शंभु मित्रा कुमार राय तरुण राय शेखर चटर्जी बादल सरकार रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता सत्यदेव दुबे अमरीश पुरी अमोल पालेकर ओम पुरी तापस सिंह खालिद चौधरी और अमरेंदु सेन साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि सत्यजीत राय की तीन फिल्मों में मुझे काम करने का अवसर मिला वो भूमिका बहुत छोटी थी लेकिन उनके निर्देशन में मुझे स्क्रीन पर काम करने का अवसर मिला और मेरे लिए बहुत वो फिल्में हैं सोनार किला जनारण और शतरंज के खिलाड़ी और उसके साथ साथ मुझे काम करने का अवसर मिला उसमें उत्पल दत्त अमजद खान विक्टर बनर्जी और सर रिचर्ड एटनबर्ग के साथ वे भी मेरे लिए काफ़ी गौरव की बात हाल में सत्यजीत राय के सुपुत्र श्री संदीप राय की एक हिंदी टीवी सीरियल में भी मुझे मोहन आगाशे के साथ काम करने का भी अवसर हाल में मिला है मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि मुझे अपने इस तुच्छ जीवन में ऐसे लोगों का साथ मिलेगा मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ और आज के इस साक्षात्कार के लिए मैं नाट्य शोध प्रतिष्ठान और श्रीमती प्रतिभा जी का बहुत आभारी हूँ और श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल को बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद सेन द्वारा नाट्य शोध संस्थान